सीधे बैठ के नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए धीमा लंबा श्वास मन को श्वास पर केंद्रित कीजिए सर्वव्यापक और सर्वद्रष्टा परमात्मा की भावना तीन बार ओम का उच्चारण मेरे साथ साथ श्वास भरिए ओ Oh. से पार कर दो मेरी इंद्रिया हो सदा मेरे वश में मेरी इंद्रिया हो सदा मेरे वश में मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो मेरे मन पे मेरा ही अतिकार कर दो प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो कोई खोट इसमें रहने न पाए कोई खोट इसमें रहने न पाए कोई खोट इसमें रहने न पाए कोई खोट इस समुपस्थित शिविरार्थी महानुभाव आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए और सूक्ष्मता से अपना निरीक्षण करते हुए आत्मनिरीक्षण करते हुए हमें अनेक बार ये लगेगा कि मैं इस मार्ग पर चलता हुआ भी कुछ उदास हो रहा हूं कुछ हताश और निराश हो रहा हूं चल रहा हूं ये पता लगता है मैं प्रयत्न कर रहा हूं ये स्पष्ट है लेकिन जो प्रसन्नता पहले थी वो अब नहीं जब प्रारंभ किया था थोड़ा थोड़ा करना प्रारंभ किया था अच्छा लगता है उत्साह था सफलता मिल रही थी लेकिन कुछ महीनों कुछ वर्षों के बाद में प्रयत्न के जारी रहते हुए भी ऐसा लगने लगता है जैसे कि कुछ प्रगति नहीं हो रही उत्साह नहीं आनंद नहीं आ रहा ऐसे में आत्मनिरीक्षण करते करते जब व्यक्ति इस प्रकार की अनुभूति में जाता है तो प्रश्न खड़ा हो जाता है ऐसा हो क्यों रहा है बहुत सी चीजें वो बिल्कुल वैसी ही अपने जीवन में देखता है खान पान वैसा ही है सात्विक भोजन ले रहा हूं अधिक भी नहीं खा रहा हूं दिनचर्या भी ठीक है स्वाध्याय भी करता हूं ध्यान उपासना के लिए भी बैठता हूं लेकिन जैसे पहले अच्छा लगता था वैसा अब नहीं लगता अथवा कई बार बहुत बुरा लगने लगता है अपने प्रति बहुत बुरा लगने लगता है अपने आप के प्रति ग्लानी होने लगती है ऐसी स्थितियां क्यों पैदा हो जाती हैं वो विचारने की बात है और समझ लेने की बात है यदि हम अपने अभ्यास को कम कर दें व्यवहार नहीं कर पा रहे हैं धीरे धीरे छोड़ दिया शिथिल हो गए तब तो समझ में आता है कि उत्साह नहीं है भी मैंने कम कर दिया और आचरण चूंकि कम हो रहा है इसलिए स्वाभाविक है निराशा आएगी अपने पर से विश्वास कम होने लगता है तो जब कम हो रहा हो जब हम छोड़ दें तब तो ये कारण स्पष्ट है ही लेकिन जब हम वैसे ही चल रहे हैं लगभग वैसा ही जीवन चल रहा है कोई विशेष घटना भी नहीं हो रही विपरीत घटना जिससे कि ये दुष्प्रभाव आए लेकिन फिर भी आ जाता है तो एक तो परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था है और हमारे मन की अंतर्मन की स्थितियां ऐसी हैं किसी भी उपलब्धि को लौकिक भी और अध्यात्म में भी दोनों जगह जो का तो घटेगा किसी भी उपलब्धि को जब हम पाते हैं कुछ नई चीज चाहे धन हो पद हो यश हो संतान हो ज्ञान हो कुछ भी जब हम नया पाते हैं तो हमें अच्छा लगता है और कुछ समय बाद में वही वही कार्य वही वस्तु वही व्यक्ति वही परिस्थिति धीरे धीरे कम सुख देने लगती है और धीरे धीरे सुख समाप्त से भी हो जाता है स्थूल तो उदाहरण लौकिक ले लें मिठाई नमकीन जो हमें पसंद हो फल आम तो प्रारंभ में हमें बहुत अच्छा लगता है और उसको जब हम एक के बाद दूसरा तीसरा पांचवा दसवां खाते जाते हैं तो उसका रस कम हो जाता है वस्तु वही है वस्तु में कोई कमी नहीं है सब गुलाब जामुन समान थे लेकिन हमारी इंद्रिय की स्थिति ऐसी हो जाती है कि सुख उतना नहीं आता है कम आता है हम सबका प्रत्यक्ष है धन कमाने में भी प्रारंभ में यदि कोई 200-500 रुपए कमाता है पहली बार कोई नवयुवक कमाने लगता है तो बहुत अच्छा लगता है सौ रुपया भी खुद कमाया आत्मविश्वास बढ़ता है यदि वो बढ़ता जाए 200, 250 पर्याप्त मात्रा में तो उत्साह और और बढ़ता रहता है लेकिन वहीं अगर स्थिर हो जाए 500 है हजार है तो हजार ही अब प्रतिदिन कमाता है उतना अच्छा नहीं लगेगा धीरे धीरे वो प्रसन्नता खुशी कम हो जाएगी अध्यात्म में भी बिल्कुल ऐसा ही है आप में से बहुतों को प्रारंभ में या बहुत सी चीजें बहुत अच्छी लगी होंगी तो पहली बार वेद मंत्रों को सुन रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है पहली बार यज्ञ में कोई बैठा हो पहली बार ध्यान करने बैठा हो तो हो मैं तो एक विशेष चीज कर रहा हूं भले ही अच्छा ना हुआ हो लेकिन अनुभूति बहुत अच्छी होती है ये प्रारंभिक उत्साह है और वही व्यक्ति उसी यज्ञ को करते हुए पांच दिन सात दिन महीना साल भर उसके बाद में उनको उतना अच्छा नहीं लगता जितना प्रारंभ में लगता था ये मैं एक सामान्य बता रहा हूं विशेष व्यक्ति तो हमेशा एक जैसा भी बना के रख सकते हैं लेकिन फिर भी अंतर लगेगा श्लोकों का गायन जो शुरू में ज्यादा अच्छा लगता था वो धीरे धीरे कम होगा तो सांसारिक विषयों में भी यही बात है और आध्यात्मिक विषयों में भी यही बात है छोटा बच्चा शिशु जब पहली बार खुद करवट ले लेता है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं बच्चा भी खुश होता है लेकिन इतना ही करता रहे और खुद बैठ ना पाए तो बच्चे की भी और माँ बाप की प्रसन्नता कम हो जाती है और धीरे धीरे वही चिंता का विषय बन जाती है कि अब ये बैठ नहीं पा रहा है पलट तो अब भी रहा था पहले दिन जितने खुश हुए थे अब तो हम खुश नहीं होते माता पिता खुश नहीं होते और यदि बैठ भी गया घुटने और हाथ पे चल भी लिया लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा है तो शुरू में अच्छा लगता है घुटनों के बल चल रहा है लेकिन घुटनों के बल ही चलता रहे और खड़ा ना हो तो धीरे धीरे वो प्रसन्नता कम हो जाती है और चिंता का विषय बन जाती है और वो चिकित्सक के पास ले जाने तक की सोचते हैं दुखी होने लगते हैं यही बात आगे के सब चर्या पर लागू होती है इसे हम परमात्मा की व्यवस्था ही समझें कि उसने मन को और इन चीजों को ऐसा बनाया है कि हम जितना उन्नत हुए हैं जितनी प्रगति की है वहीं ना अटक के रह जाए हमें कुछ और चाहिए कुछ और प्रगति चाहिए इसको हम धन के संदर्भ में बड़ी निंदा के रूप में भी बोलते हैं ये संसार के विषय ऐसे हैं कि उनकी तरफ कामना भावना लेके हम चलें उनके पीछे दौड़ें तो इच्छा और बढ़ती जाती है संतोष नहीं होता है एक कमरे का मकान है तो दो का चाहिए चार का चाहिए छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए दस कपड़े हैं तो बीस चाहिए अधिक अधिक की इच्छा करती है ये अंधी दौड़ है वहां भी मूल चीज यही काम करती है कि हम हमने जितना प्राप्त किया उसको पाने के बाद ये अनुभूति होती है कि ये अब उतना सुख नहीं दे रही है अब कुछ और चाहिए कुछ और ज्यादा चाहिए एक तरफ हम इसको दोष के रूप में देखते हैं कि इधर कितना भी बढ़ते जाओ पूर्ण तृप्ति नहीं होगी ठीक है लेकिन दूसरी तरफ उसमें अच्छा ही यह है इसके कारण हम और प्रयत्नशील होते हैं पुरुषार्थ करते हैं अधिक अच्छी चीज पाना चाहते हैं मेहनत करते हैं और एक तरह से ये संसार के प्रति हमें वैराग्य पैदा करने की प्रक्रिया परमात्मा ने दे रखी है कि वो चीज आगे उतना सुख नहीं देगी हमें बोध होगा नहीं अब अच्छा नहीं लग रहा है अब सुख नहीं आ रहा है वो कुछ और चाहिए आध्यात्मिक मार्ग में भी जब हम कुछ नियमों का पालन करते हैं कुछ व्रत लेते हैं अनुष्ठान करते हैं तपस्या करते हैं कुछ स्वाध्याय करते हैं ये सब प्रयत्न साधते हैं पुरुषार्थ की चीजें हैं और शुरू शुरू में हम करते हैं तो अच्छा लगेगा अब यदि हम उसी स्तर पर चल रहे हैं तो जैसे भौतिक जगत में प्रसन्नता कम होती है ऐसे यहां भी प्रसन्नता धीरे धीरे कम होती जाएगी और ये प्रसन्नता का कम होना हम बुरे अर्थों में भी ले सकते हैं कि ये क्या हो गया सब कुछ वैसा ही कर रहा हूं लेकिन फिर भी प्रसन्नता नहीं है और इसको हम अच्छे अर्थों में भी ले सकते हैं इस संकेत के रूप में कि अब मुझे एक कदम और ऊपर बढ़ाना है कुछ और नया करना है ये संकेत आ गया है और जो संकेत होता है हमें आगे बढ़ने के लिए सूचना होती है वो तो प्रसन्नतादायक ही होती है अच्छा है पता लग गया कि हमें इसको कुछ और करना चाहिए कभी ऐसा लगे कि यहां शिविर में आके शुरू में ऐसा करते करते बहुत अच्छा लगा था और अब घर पे भी मैं ऐसा ही कर रहा हूं चल रहा हूं लेकिन अब वो प्रसन्नता नहीं है हाँ, घर की परिस्थिति अलग हो वहां कुछ समस्याएं हो तब तो वो कारण भी होते हैं वो कारण है तो उनको हटाया जाएगा लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि अन्य कोई कारण हमें पकड़ में नहीं आ रहा है सब एक ही जैसा है लगभग वैसा ही है फिर भी हम प्रसन्न नहीं है तो अपने निरीक्षण से ये समझ लेना चाहिए अब मुझे कुछ और करना है कुछ नया करना चाहिए जो व्रत ले रखा है उसको थोड़ा और व्यापक करना चाहिए उसको और गंभीर करना चाहिए अथवा कोई नया व्रत लेना चाहिए देखेंगे कि जैसे ही हम फिर कुछ और नया करेंगे तो उस नया करने की प्रसन्नता हमारे को आएगी परमात्मा चाहता है कि हम और आगे बढ़ें नहीं तो व्यक्ति वहीं अटक करके रह जाता है दूसरी बात कि जब अपने को हम देखते हैं धीरे धीरे अधिक सूक्ष्मता से देखने लगते हैं पहले मोटे मोटे दोष हमें पता थे सूक्ष्मता से पता ही नहीं थे कि ये दोष होते हैं नहीं होते हैं उसको गलत मानते ही नहीं थे अब यहां बहुत सारा सुन लिया या हमने वैसे स्वाध्याय किया बहुत सी बातें पता लगी कि ये गलत है यहां मेरे में कमी यहां मेरे में कमी ये कमी अभी ये और करना है अभी तो ये और करना है अभी तो ये और करना है ये मन में विचार आएगा सच्चाई से चल रहे हैं ईमानदार हैं चलना चाहते हैं इसलिए हमारे को अपने बहुत सारे दोष दिखाई देने लग जाएंगे जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई ऐसा भी लग सकता है तो इतना बुरा हूं पहले लोग कह देते हैं हाँ भाई अच्छे हैं सज्जन हैं धार्मिक हैं ईमानदार हैं वो उस स्तर पे जितना है चलता रहता था हम भी अपने को अच्छा समझ लेते हैं महाशय हैं हम लेकिन जब अपने दोष पता लगते हैं ऋषियों के ग्रंथ पढ़ते हैं ये भी दोष वो भी दोष ये और करना है तो बहुत सारे दोष हमें पता लगने लगते हैं और जब व्यक्ति अपने दोषों को देखने लगे और ज्यादा देखने लगे दिखेंगे तो है ही जो चल रहा है उसको दिखेंगे और जब ज्यादा दोष दिखने लगेंगे तो आत्मनिरीक्षण का एक दुष्प्रभाव आएगा कि हमें लगने लगेगा वो इतने सारे दोष हैं मेरे हम हीनता में आत्मग्लानी में जा सकते हैं अनुत्साह रहेगा तो मेरे को तो इतना है पहले उत्साह लगता है कि मैं कर लूंगा ये कर लूंगा वो कर लूंगा लगता है तो इतना सारा करना है मुझे पता ही नहीं था कि कितना कचरा अंदर बढ़ा हुआ है मन के अंदर विचारों का संस्कारों का तब भी व्यक्ति को निराशा उदासी अनुत्साह आ जाता है अब यदि हम इस नियम को सामान्य रूप से स्वीकार करें कि ऐसे सबके साथ में होता है जो पहले के महापुरुष हो गए हैं ऊंची स्थितियों को प्राप्त हुए हैं योगी जन उनके साथ भी ऐसा ही हुआ वो भी हमारी ही तरह थे पहले हम भी पहले और निचली अवस्था में रहे होंगे और वो भी और भी निचली अवस्था में रहे होंगे ये तो हर आत्मा के साथ ऐसे ही चलता रहता है हम ऊंचे आदर्श को देखते हैं हमें उस जैसा बनना है लगता है मैं तो बन ही नहीं पा रहा हूं पुरुषार्थ भी करते हैं ये दोष हटाएं वो दोष हटाएं तो जब ज्यादा दोष दिखने लगते हैं उस निराशा की स्थिति में में यही सोचना चाहिए कि ऐसा सबके साथ में होता है संतोष किस बात का कि मैंने इनको जाना है ये अपने आप में बड़ी बात है मैं अपने बहुत से दोषों को जान पा रहा हूं ये अपने आप में बड़ी बात है ये कोई निराशा की बात थोड़ना है उदासी की बात थोड़ना है पता लगा जब दोष पता लगते हैं और हम देखते नहीं ये दोष है तो हम उसकी कुछ निंदा कर रहे होते हैं गर्हा कर रहे होते हैं नहीं ये दोष है ये हानिकारक है हम उसको दोष को दोष जब कह रहे हैं इसका मतलब है कि हम ये अंदर ही अंदर हमारे अंदर भाव है स्पष्टता से या अस्पष्टता से ये गलत है ये हानिकारक है जो सही हो लाभदायक हो उसको हम ये थोड़ा ना कहते हैं कि ये दोष है तो जैसे जैसे हम इसको देखते हैं ये प्रसन्नता की बात है हम उसको दूर नहीं कर पा रहे इस उदासी में निराशा में हमें नहीं जाना है अगर हम ऐसा कल्पना कर लें कि नहीं जल्दी से हो जाए जल्दी से हो जाए ये एक तरह का मिथ्या ज्ञान है क्योंकि तो ऐसा होता नहीं है जैसे कि कोई धन कमाने वाला कुछ धन कमाए और कल्पना में चला जाए कि मैं तो इतना कमा लूंगा अगले महीने इतना कमा लूंगा ये कर लूंगा वो कर लूंगा और होगा नहीं तो निराश ही होगा ऐसे ही यहां पर भी होता है ये दोष सारे धीरे धीरे जाते हैं धीरे धीरे ही जाते हैं और धर्म की पालना भी नए गुणों की प्राप्ति उनको लेना नए व्रतों का पालन करना वो भी धीरे धीरे ही होता है और धीरे धीरे ही करना चाहिए अब इसको ऐसा नहीं समझिएगा कि हम तो बड़े उत्साह में थे कि जल्दी से करना है ये कर लेंगे वो कर लेंगे इतने महीने में समाधि लगा लेंगे इतने दिनों में यम नियम को बिल्कुल दृढ़ कर लेंगे ये तो उल्टा पाठ कह रहे हैं कि धीरे करो इसकी जटिलता इतनी है अंदर विचारों के स्तर पर कि वो काम धीरे धीरे ही होता है मनुस्मृति में एक श्लोक कहा धर्म के बारे में कि धर्म का संचय कैसे करें तो कहा शनि धर्मम संचिनुयात धर्म का संचय धीरे धीरे करें मनुस्मृति तो धर्म शास्त्र है वो धर्म की ही शिक्षा देता है क्या धर्म है क्या करना चाहिए क्या कर्तव्य है क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि प्रजा लोग जल्दी से धर्म के पालन में चले जाएं जल्दी से धर्म को अपना लें पूरी तरह अपना लें वो नहीं चाहेंगे उनकी तो यही कामना है कि सब पूर्ण धार्मिक बन जाए इसीलिए तो ग्रंथ लिखा है लेकिन उस पालना में उन्होंने क्या संकेत किया शनि धर्मम संचिन और उदाहरण दिया वल्मी का मेव का जैसे दीमक अपना घर धीरे धीरे बनाती है ऐसे बनाए और उसके पीछे कारण ये है कि जब हम तीव्रता से ये करना चाहते हैं शीघ्रता से करना चाहते हैं और सामर्थ्य है नहीं हमारी अपना अवलोकन नहीं किया है हमने मेरी क्या सामर्थ्य है कितना मैं कर सकता हूं लेकिन चल पड़े तो गिरने की संभावना रहती है जब कोई व्यक्ति कोई बच्चा बहुत तेजी से भागना चाहता है तेजी से चलना चाहता है तो ठोकर खा के लड़खड़ा करके गिर भी जाता है सामर्थ्य से अधिक करेगा तो गिरेगा वो मुंह के बल गिरेगा धीरे धीरे किया जाता है और जो हम यहाँ श्लोक पढ़ते हैं उसमें भी एक पहला ही श्लोक है संभवतः पहला ही होना चाहिए धैर्य यस्य पिता क्षमा च जननी योगी का परिवार क्या होता है वो बताया बिना माता पिता के बच्चा नहीं होता ऐसे ही योगी या साधक बनता है तो उसके लिए माता पिता कौन है धैर्य तो पिता है और क्षमा जननी यानी माता है धैर्य रखना होता है बहुत धैर्य से जल्दबाजी नहीं संसार में भी जो ज्यादा तेज चलता है अपनी सामर्थ्य से अधिक वो नीचे आता है पहाड़ पे चढ़ना है अपनी सामर्थ्य से बहुत तेजी से चले तो फिसलने की संभावनाएं उतनी ज्यादा होती है और फिसलते हैं तो और ज्यादा नीचे आ जाता है चोट भी खा जाता है धीरे धीरे संभल के चलना है कि नीचे ना चला जाए गिर ना जाए चोट ना आ जाए इसी तरह से धर्म के दस लक्षणों में मनुस्मृति में धृति क्षमा तमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम इसमें सबसे पहला क्या है धृति क्षमा वहां पर दूसरा है यहां पर भी धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी धैर्य धृति इस धर्म का पहला लक्षण तो इस अध्यात्म साधना में चलते हुए भी बहुत धैर्य रखना होता है बहुत धैर्य रखना होता है महीनों वर्षों चलते हुए व्यक्ति को यह लगने लगेगा कि जैसे कुछ ही नहीं हो रहा है सफलता मिलनी चाहिए कुछ लाभ तो दिखाई देना चाहिए प्रारंभ में बहुत सारे लाभ सफलताएं दिखाई देंगी जल्दी में प्रारंभ में दिखाई देंगी आगे धीरे धीरे सफलताएं आती हैं क्योंकि वो कठिन और सूक्ष्म होते हैं जब हम अपने दोषों को हटाते हैं आत्मनिरीक्षण में देखा प्रयास किया बहुत सी चीजें आप एक साथ बहुत सी चीजें छोड़ देंगे आपको व्रत पत्र दिए जाएंगे बहुत सारे व्रत हैं आप कई चीजें छोड़ सकते हैं एकदम से गुणों को अपना सकते हैं प्रारंभ में जो स्थूल मल होता है वो जल्दी से निकलता है सरलता से निकलता है लेकिन अंदर का सूक्ष्म मल अधिक प्रयत्न से और थोड़ा थोड़ा निकलता है इसको एक उदाहरण से समझें कि बारिश में हमारे कपड़े मिट्टी में लथपथ हो गए हम गिर गए कीचड़ था पानी मिट्टी मिट्टी में सन गए कपड़े अब उसको हम धोते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उनको सादा पानी में बाल्टी में उसमें डुबाएंगे एक बार डुबाएंगे दो बार डुबाएंगे उतने में ही बहुत सारी मिट्टी निकल जाएगी थोड़ा सा यूं रगड़ेंगे बहुत सारी मिट्टी निकल जाएगी प्रयत्न कितना सा था थोड़ा सा था और परिणाम कितना दिखाई दिया काफी मात्रा में दिखाई दिया पहली बार किया पानी फेंक दिया दोबारा फिर पानी लिया अब फिर हमने अंदर डाला उतनी ही मेहनत की जितनी पिछली बार की थी लेकिन मल कितना निकला नहीं निकलेगा कम निकलेगा तो और कई बार करते करते पानी में ही करते रहेंगे तो वो फिर और साफ होना बंद हो जाएगा खूब रगड़ने भी लगे मसलने भी लगे कूट भी दिया थोड़ा थोड़ा सा निकलेगा अब और साफ करना है निशान तो पड़ा हुआ है तो साबुन लगाएंगे तो पहली बार साबुन लगाएंगे तो फिर भी काफी चीजें निकल जाएंगी और फिर कपड़े पे और जो दाग लगा हुआ है फिर उतना ही साबुन फिर लगाया उतना ही मसला तो अधिक मल नहीं निकलेगा वो छूटेगा नहीं कपड़े के अंदर का जो दाग है वो बहुत बहुत मसलने से फिर ब्रश लाएंगे ये करेंगे वो करेंगे कठिनता से जाते हैं प्रारंभिक दोष स्थूल दोष स्थूल मल आसानी से जाते हैं दिखता है कि गए हैं लेकिन सूक्ष्म दोष अधिक प्रयत्न से जाते हैं बहुत प्रयत्न करना पड़ता है मल थोड़ा सा निकलेगा लेकिन मेहनत बहुत पड़ेगी वो तो अंदर का मल होता है तो जब हम इस कार्य को करते हैं और हमें लगता है कि अब सफलता नहीं मिल रही है और और अधिक करना पड़ता है उतना ही करते रहेंगे तो लगेगा कि अब तो लाभ होना ही बंद हो गया है तो विशेष प्रयत्न हमारे को बढ़ाना होता है और ये काम बड़े धैर्य से करना होता है जब हम अपने दोषों को बहुतों को देख करके अब हटाने का प्रयास करते हैं उसमें भी जोर पड़ता है मेहनत होती है उस मेहनत की अधिकता से हम बहुत अधिक ईश्वर प्रणिधान करेंगे बहुत गंभीर रहेंगे उसके कारण से हमारे को दिक्कत आने लगती है काम अच्छा है लेकिन उससे दिक्कत आने लगती है हमारे चित्त की प्रसन्नता कम हो जाती है हम अधिक तपस्या करने लगते हैं काम अच्छा है करनी है लेकिन हम अधिक तपस्या करने लगते हैं तो चित्त की प्रसन्नता समाप्त हो जाती है कम हो जाती है तो जो ये अनुभूति आती है उसका एक कारण ये भी है कि हो सकता है हम अधिक मात्रा में सामर्थ्य से अधिक प्रयत्न कर रहे हों यदि साधना में चलते हुए ऐसा लगने लगे कि मन की प्रसन्नता नहीं रही तो थोड़ा सा कम भी कर लिया जाता है ज्यादा हो रहा है मेरे लिए योग दर्शनकार ने कहा इस बात को व्यासभाष्य में लिखा कि ये जो तप करना है तप की महत्ता खूब बताई बिना तप के अंदर के मल समाप्त नहीं होते लेकिन साथ में कहा कि ये तप कितना करना चाहिए तो चित्त प्रसादनम अबाध मानव चित्त की प्रसन्नता की बाधा नहीं हो इतना करना नहीं तो नए नए बहुत सारी चीजें देखी गुरुकुल के लोगों को ब्रह्मचारियों को देखा ऐसे रहते हैं ऐसे करते हैं कुछ गंभीर साधकों को देखा ऐसे रहते हैं ऐसे करते हैं और घर पे जाकर के एकदम से वो करने लग गए संभल नहीं पाएगा अधिक करने लग जाएंगे उत्साह है मैं जल्दी से करूं अच्छी बात है लेकिन इन सबको करते हुए यदि कभी ऐसा लगने लगे कि अब चित्त की प्रसन्नता नहीं रही तो उसका एक कारण यह भी होता है कि हमने अधिक कहीं तो नहीं कर लिया है एक पीछे दूसरा कारण मैंने बताया था कि जब हम चलते चलते स्थिर हो जाते हैं वहीं पर ही बढ़ना बंद कर देते हैं तब भी प्रसन्नता समाप्त हो जाती है अप्रसन्नता आ जाती है उस समय हमें नया कदम बढ़ाना होता है नई चीज को अपनाना होता है लेकिन ये दूसरी बात भी है कि कभी हम ज्यादा करने लगते हैं इसलिए चित्त की प्रसन्नता समाप्त हो जाती है ये हमारे को आत्मनिरीक्षण से देखना होता है कि मैं कैसे चल रहा हूं और अपनी स्थिति का आकलन करके यदि कुछ कम करना है तो कम करके देख लेते कोई गाड़ी मोपेड वगैरह 40, 50, 60 ही चल सकती हो और उसको हमने बहुत तेज चला दिया थोड़ी देर तो चल जाएगी गर्म हो जाएगी घू घू करने लगेगी और ठप हो जाएगी वो अगर 20, 30, 40 की गति पे ठीक चलती है तो हम उसमें दूर तक जा सकते हैं उतनी ही गति से कुल मिलाकर के हम अधिक दूर जा सकते हैं लेकिन हम जल्दी चलने के प्रयास में यदि उसको तेजी से चलाने लगेंगे तो थोड़ी देर तो तेज चल लेगी लेकिन ठप हो जाएगी कुल मिलाकर के हमारे लिए लाभदायक नहीं होगा यात्रा की दृष्टि से तो अपने शरीर की और मन की सामर्थ्य को देखते हुए यदि हमने कुछ ज्यादा कर लिया है तो उसको कम किया जाता है ऐसे भी हम चित्त की प्रसन्नता को वापस लाते हैं चित्त की अप्रसन्नता का ये भी कारण होता है कई बार जब हम अपने दोषों को दूर करना चाहते हैं बहुत सारे दोष दिखाई देते हैं सोचते हैं कि कौन से दोष को दूर करूं अब ये तो हमको समझ में आ गया कि एक साथ सब दोषों को दूर नहीं कर सकते जैसे किसी देश की सेना कई जगह पे लड़ाई छेड़ दे इधर भी लड़ाई छेड़ दी इधर भी छेड़ दी उधर भी छेड़ दी इधर भी छेड़ दी छेड़ तो बहुत सी दी सब जगह युद्ध करना था सब जगह लड़ाई छेड़ दी अब बहुत जगह लड़ाई छेड़ दी अब संभाल नहीं पा रहे हैं तो इधर भी हार इधर भी हार इधर भी हार इधर भी असफलता इसको देख करके यूं लगता है जैसे कि कुछ भी नहीं हो रहा है हताशा निराशा विश्वास अपने ऊपर कम हो जाता है सेना को भी कभी ऐसा लगता है तो सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए किसी विजय की जरूरत होती है अब विजय तो बहुत उत्साहित करती तो ऐसे में दस जगह छेड़ी हुई लड़ाई को छोड़ करके शक्ति को केंद्रित करके किसी एक जगह पे लगा देते अब सामर्थ्य तो थी ही वो दस जगह लगा दी थी इसलिए असफलता मिल रही थी अब एक जगह ले लेते हैं तो असफलता मिल जाती उससे उत्साह आ जाता है फिर और उत्साह आकर के फिर दूसरी जगह भी फिर हम काम करते हैं एक एक करके तो सबको छेड़ना है एक एक करके हर चीज को जीतना है तो जब हम अपने बहुत सारे दोषों को देखेंगे दिखाई देंगे और करना ही है सबको तो सब जगह अगर हमने लड़ाई छेड़ दी तो भी दिक्कत हो जाएगी असफलता रहेगी और चीजें जितनी हैं जैसी हैं पहले भी तो चल रही थी चलने दीजिए अभी छेड़िए मत उसको किसी एक दो स्थान को पकड़ लीजिए उसमें का बल लगाइए और चीजें जैसी हैं कोई बात नहीं यमों को ले लीजिए अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह कुछ भी सबको छेड़ लेंगे तो दिक्कत है किसी एक को ले लीजिए और उसको लेकर के उसमें सफलता प्राप्त की वो हमारे को बहुत आत्मविश्वास देती है दिखाई देता है बल भी बढ़ेगा आगे हम और अधिक जगह मोर्चा खोल सकते हैं और अधिक कर सकते हैं तो साधना में चलते हुए ऐसा जब कभी लगे तो आकलन करके कुछ सामंजस्य करना होता है वो कर लेना चाहिए और ये हम स्वयं अपने को देख के आत्मनिरीक्षण से ही पता लगा सकते हैं दूसरे को अधिक पता नहीं लगेगा गुणों को अपनाने की दृष्टि से भी ऐसा ही होगा ये भी अपना लू ये भी अपना लू तब भी हमें अधिक थकान अधिक ये चीजें हो सकती है तो मैं सोचता हूं वैसे तो आपका दिन अधिकांश का अच्छा ही बीता होगा क्या आप में से किसी को इन प्रयासों को करते हुए अधिक मात्रा में क्योंकि आपको बार बार कहा जाता है ये भी करो ये भी करो वो भी करो प्रयास पे करें खूब एकाग्रता हो ईश्वर प्रणिधान बना रहे दृष्टि नीचे रहे पूरा मौन रहे इन सबको करते हुए आप में से किसी को ऐसा लगा कि अधिक मेरे पे दबाव आ गया है अधिक सिर दर्द हो गया है सिर में भारीपन आ गया है बेचैनी हो गई है यूं लगने लगा है जैसे कि मैं कर नहीं पा रहा हूं जैसे हम अपनी शारीरिक सामर्थ्य से अधिक देर तक करते रहते हैं तो कुछ देर बार ऐसा लगने लगेगा जैसे हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं हमारे असमर्थता सी लगने लगेगी ऐसा मानसिक और बौद्धिक स्तर पर भी लगने लगता है तो आप में से किसी को ऐसा लगा हो तो हाथ खड़ा करेंगे कोई हो तो नहीं आपको लगा अच्छा और कोई है डीजे उनको कौन है आपको क्या परेशानी लगी वो बताइए और कोई है इधर उनको भी दीजिए बताइए देखिए विस्तार नहीं कीजिए रुकिए रुक रुकिए रुकिए रुक जाइए बिल्कुल रुक जाइए केवल इतना बताना है आपको अधिक करने से क्या परेशानी लगी सीधा वो बताइए थकान हो गई थी शारीरिक रूप से सिर दर्द होने लगा ठीक है बैठिए आपको नींद ज्यादा आने लगी भोजन के नियम पालन करने से कौन से नियम से तो अच्छा तो इसमें पालन क्या करना है आपको तो तो खाना पड़ रहा है ठीक है और हाँ, ठीक है ये प्रभाव आ सकता है इनका कहना है कि जी यहाँ मिर्ची नहीं होती है तो मिर्ची तो जगा के रखती है ना उष्ण होती है आंख को खोल देती है पसीने ला देती है स्रोतों को खोल देती है थोड़ा जगा के रखती है अब मिर्ची कम हुई तो उसका कारण क्या है कि आप घर पे मिर्ची खाते रहे उससे अग्निदीप तो होती है पाचन हो जाता है अब यहां मात्रा तो उतनी ही रखी भोजन की और पाचन के लिए कुछ हुआ नहीं शरीर के तंत्र को ऐसी आदत होती है तो आलस्य आएगा तो उसमें कारण क्या है उसमें हमारे को भोजन कम कर देना चाहिए भोजन कम कर देना चाहिए तो कई बार हम सात्विक भोजन करना है तो कैसे भोजन सात्विकों को प्रिय होते हैं रस्या स्निग्धा स्थिरा आहार जो रसीले होते हैं स्निग्ध होते हैं चिकनाई अधिक खाएंगे मीठा अधिक खाएंगे बादाम सूखे मेवे क्योंकि चटपटी और खट्टी ये तो राजसिक भोजन के अंतर्गत आ जाएगा तो सात्विक लोग ऐसा भोजन ले लें लेकिन मात्रा कम करनी पड़ेगी उसकी मात्रा कम कर दीजिए व्यायाम कर लीजिए प्राणायाम कर लीजिए तो नहीं आएगी बल्कि इसका दूसरा होता है प्रभाव कि जब हम सात्विक भोजन लेते हैं फल पे आ जाते हैं दूध पे आ जाते हैं मात्रा कम करते हैं तो नींद कम होती ही है क्योंकि जब हम अधिक भोजन करते हैं तो पच पूरा नहीं पाता है तो आम बनता है अच्छा भोजन रहता है और वो निद्रा तंद्रा आलस्य को लाता है और जब हम भोजन कम करते हैं तो जठराग्नि उसको अच्छी तरह पका देती है शरीर अच्छी तरह पका देता है आम नहीं बनता है कम बनता है तो हमारे शरीर में चुस्ती फुस्ती रहती है चपलता रहती है हल्कापन लगता है तो उपवास करने वाले सब अनुभव करते हैं एक समय भी भोजन छोड़ो एक दिन छोड़ो तो भी हल्कापन लगता है वो इसी कारण से कि जो आम बना हुआ था वो पक जाता है पच जाता है तो अगर नींद अधिक आती है मात्रा उसकी कम कर लीजिए और जैसे इन्होंने सिर में दर्द और थकान का है उस समय ढीला कर दीजिए छोड़ दीजिए जैसे तेजी से गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करें ईश्वर प्रणिधान बनाए अपने को एकाग्र करने का प्रयास करें ध्यान उपासना में तो बहुतों को भारी बनाएगा ऐसे में हल्का कर लीजिए अपने को ढीला कर लीजिए प्रयास को कम कर लीजिए नहीं तो कष्टप्रद हो जाता है और कौन है जिनको आपको क्या बाधा लगी ऐसा जब लगने लगे तो थोड़ा इधर उधर देख लीजिए अब यहां तो नियम है इसलिए मौन हम करवाते ही हैं क्योंकि औरों को बाधा होती है सामूहिक है घर पे आपको ऐसा नहीं रहेगा घर पे आप प्रातःकाल उठने से लेके छह सात बजे तक का जो आपका काम है उस समय मौन रह सकते हैं फिर आपको घर के कार्य करने हैं सात बजे आठ बजे बाद में तब उचित जितनी मात्रा में है उतना बोलना कर सकते हैं रात्रि में नौ बजे दस बजे जब आप अपने कक्ष में जाते हैं एकांत में जाते हैं सोने के लिए जाते हैं तब से आप मौन को कर सकते हैं तो उतनी मात्रा में मौन रखेंगे तब आपको ये बाधा नहीं आएगी निस्संदेह यहाँ बहुत सारे नियम नए व्यक्तियों की दृष्टि से काफी कठोर होते हैं इसलिए थोड़ा सा आपको ढीला भी रखते हैं हम उतनी कठोरता नहीं करते या कठोरता करते हैं किसी को कठोरता भी लग सकती है लेकिन हमारे जो देखने वाले हैं या मेरे पास भी बात आती है नहीं ठीक है चलो इतना चलने दो तो। आज ही हमारे ब्रह्मचारी जी बोले कि आज पुस्तक लेने गए तो वहां लोग काफी बातचीत हो रही है ठीक है करने दो कोई बात नहीं होती है और मैंने बहुत से शिविरों में देखा चलो इस इसको आप लोग नहीं करना ये विषय वैसे तो मेरा कल का था कि मौन समाप्त तो होते ही खूब जोर से बात करते हैं खूब जोर से बात करते हैं परसों आपका मौन समाप्त होगा कैसे जैसे छोटे बच्चों की छुट्टी की घंटी लगती है ना उसके बाद में वो क्या करते हैं खूब आनंद आता है उनको खूब उछलते हैं कूदते हैं बातचीत करते हैं चिल्लाते हैं ऐसा आनंद आपको भी आएगा ना ये तो मैंने बोल दिया है अब बच्चा कौन बनना चाहता है मैंने पूर्ण मौन शिविरों में कई जगह होता है उसके बाद उठते हैं तो इतनी बात करते हैं इतनी बात करते हैं जैसे कि किसी बंधन से छूटे हो अब ये अच्छा लक्षण है या बुरा लक्षण है अच्छा लक्षण है बुरा लक्षण है प्रसन्नता होगी तो अच्छा है अगर मौन के अभिप्राय को हमने समझा है और इतने दिन मौन का पालन किया है तो एकदम से हम ऐसे तीव्र नहीं जाएंगे अधिक नहीं करेंगे तो आपके बीच में भी हमें बहुत सारा पता है माताएं भी बहुत बात करती हैं और भी करते हैं कितनों को तो मैं भी देखता हूं फिर भी कईयों को टोकता नहीं हूं गर्दन झुका करके चला जाता हूं ठीक है किसी को टोक भी देते हैं इतनी कठोरता से नहीं रखते क्योंकि आपके अंदर नए साधक भी हैं और पुराने साधक भी हैं एकदम नए नए लोग भी हैं जिनको इस तरह का कोई अनुभव नहीं है तो थोड़ा उनको क्षमा भी कर देते हैं इतना कोई दंड भी नहीं देते बहुत कठोरता से अब हमारे पुराने साधकों को ये शिकायत रहती है कि भाई आप इनको बोलने देते हैं या ये कर रहे हैं देखो फिर मौन शिविर का क्या मतलब हुआ फिर हमारे को तो अवसर नहीं रहा अब ये तो देखो सामूहिक है तो सहन करना पड़ता है मध्य मार्ग लेकर के हम चलते हैं तो जब भी आपको कभी ऐसा लगे लेकिन यहां चूंकि सामूहिक में इसलिए ऐसे बातचीत नहीं करनी है कि दूसरों को बाधा हो लेकिन आप थोड़ा हल्का कर दीजिए ईश्वर पर निदान छोड़ दीजिए शरीर को ढीला छोड़ दीजिए ज्यादा चिंतन छोड़ दीजिए कुछ दूसरी चीजें हल्की फुल्की चीजें तो जब भी साधना में हमें ऐसा उदासी तनाव दबाव लगे तो अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए देख लेते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है आपको कारण समझ में आ जाएगा और उसके अनुसार अपने में थोड़ा परिवर्तन करते हैं और जैसे हम चलते चलते थक जाते हैं और जब हम विश्राम के लिए रुकते हैं उसका ये मतलब नहीं होता कि हमने यात्रा बंद कर दी है हम विश्राम कर रहे हैं थोड़ा आधा घंटा एक घंटा विश्राम करेंगे ताकि और आगे चलेंगे इसलिए उसमें हताश निराश नहीं होना है थोड़ा ढीला होना ही होता है विश्राम लेना ही होता है मानसिक रूप से तो आज का विषय इतना ही रखते हैं ओम सूचना